सहनावतु सह नो भुनत्तुं सह दीनं कर्वा वहै तेजस्विनावधीदमस्तु महाविद्विषा वहै शान्तिः शान्ति शान्ति शांति हाँ जी कल के प्रसंग को लेकर के हम विचार करेंगे भूमिका में जो बातें आई हैं उनके बारे में मैं आपसे पूछ लू शब्द का लक्षण शब्द का लक्षण कौन बताएंगे आपने से माता सुदेश जी शब्द का लक्षण बताइए ओम स्वामी मैंने मैंने ये पढ़ा नहीं है मैं सिर्फ एक दिन पहले अक्षम न अक्षरम बस यही सूत्र पढ़ा था उसके बाद मैंने छब्बीसवें सूत्र से शुरू किया मैं चार पॉइंट घर नहीं थी अच्छा, तो कोई बात मुझे तो मुझे तो जो मैंने इसमें से पढ़ा है उसमें ये तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि लक्षण क्या है शब्द के ये तो में पुस्तक में आपको दिखाई देगा बाद में देख लेना कोई बात नहीं आ, मैं आपने से आ, क्या नाम है राम मोहन जी से पूछ लेता हूँ नहीं है क्या हाँ रेणु जी बताइए शब्द का के उच्चारण से के उच्चारण से आकाश में रहने वाला वायु के वायु से आकाश में प्रकट होने वाला सब हाँ आपने संस्कृत में परिभाषा अच्छी बताई है और हिंदी में थोड़ा करने में दिक्कत आ रही है आपको राजेश जी लिख रहे हैं कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है हमको देख लीजिएगा श्रोत्रोपलब्धि तो आपने स्पष्ट बता दिया श्रोत्र से यानी कान से उपलब्धि होती है यानी जिसको कान से सुना जाता है बुद्धि निग्रह बुद्धि से वो ग्रहण होता है तो यह बुद्धि शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं आप मैं बुद्धि का अर्थ बताइए ना अगर आप बुद्धि से ग्रहण होता है तो बुद्धि क्या बुद्धि से ब्रेन है बुद्धि का मतलब आत्मा या स्वामी जी वो आत्मा और बुद्धि लेके अगर काम करते हैं तो आत्मा बुद्धि को प्रेरित करता है तो ग्रहण कर पाता है नहीं वो तो ठीक है आत्मा बुद्धि को प्रेरित करता है लेकिन वो बुद्धि क्या चीज है बुद्धि किसको कहते हैं बुद्धि से जो ग्रहण हो रहा है वो बुद्धि कौन है मैं आपसे पूछूं कि आप दिल्ली से कोलकाता कैसे गए हमें साधन से गए गई हूं तो पूछ रहे हो कौन सा साधन है वो क्या है साधन साधन तो साधन है इतने कह करके आप अपनी बात तो पूरी नहीं कर सकते ना साधन से तो गए हैं मानते हैं ऐसे बुद्धि से तो ग्रहण हो रहा है लेकिन वो साधन क्या है कैसे गए वो सा... नहीं साधन से गई हूँ इतने से बात नहीं बनी वो साधन बताना पड़ा आपको ट्रेन से गई है या फ्लाइट से गई है या कार से गई है या तो वो बुद्धि का तो बताना पड़ेगा मन हाँ, तो मन से भी ग्रहण होता है ठीक है मन से भी होता है अच्छी बात है फिर अगला शब्द है प्रयोग है ना अभिज्वलित तो उच्चारण से प्रकट होता है ये भी आपने बता दिया और आकाश देश है इसका क्या अर्थ बताया आपने आकाश आकाश में रहने वाला है हाँ अब ठीक बताया आकाश में आकाश जिसका स्थान है मतलब शब्द का निवास स्थान जो है वो आकाश में जैसे आपका मेरा हम सबका निवास स्थान घर है जैसे हम घर में निवास करते हैं ऐसे शब्द जो है आकाश में निवास करता है ये हो गया आपका लक्षण शब्द का श्रोत्रोपलब्धि बुद्धिर्निग्राह्य प्रयोगेन आकाश देश शब्द ठीक है स्पष्ट हो गया वर्णों का स्वरूप कैसे प्रकट होता है पद्मा वर्णों का स्वरूप कैसे प्रकट होता है वरना हाँ नमो आकाशवायु हाँ आकाशवायु हाँ, स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः सः शब्दः आकाशवायुसंयोगेन यत् उत्पद्यते तत् नाभिस्थानात् अधः स्थानात् ऊर्ध्वं गमनं कृत्वा यः सः प्रविशति यः मुखं प्रवेश् यः मुखप्रदेशं सः नादः नादः मुखं प्रविश्य भिन्नेषु स्थानेषु विभज्याः यः वर्णरूपं प्राप्नोति सः शब्दः खलु सम्यक् भवति हम्म। शब्द स्वरूप को जानने से उसका जो फल प्राप्त होता है वो फल कैसा होता है रुचि शब्द स्वरूप कैसा है किस फल को प्राप्त कराता है या करता है या किन से युक्त होता है ओम स्वामी हाँ। ओम स्वामी वर्ण का स्वरूप कैसे प्रकट होता है एक बार आप हिंदी में पूरा बता दीजिए हाँ, वो वर्णों वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है तो आकाश वायु प्रभव आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला होता है वर्ण आकाश और वायु का संयोग होता है उस संयोग से शब्द उत्पन्न होता है तो जब आकाश और वायु का जब संयोग होता है उस स्थिति में नाभि के नीचे से ऊपर उठता है कौन वो वायु नाभि नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ जो वायु है वो मुख को प्राप्त होता है और जब मुख में वो प्राप्त होता है वो नाम के रूप में प्राप्त होता है एक गूंज के रूप में प्रकट होता है मुख में आता है गूंज के रूप में मुख में आता है और जब मुख में आ, आने के बाद में मुख के अलग अलग स्थानों को प्राप्त होता है कंठ तालु मूर्धा दंत इन सबको प्राप्त होता हुआ वो वर्णत्व को प्राप्त होता है तब उसको शब्द कहते माता जी ओम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ अधुना वदतु तो, रुचि ओम ब्रह्म परमं पुरुषम वह अक्षर जिसको विद्वान लोग अच्छी प्रकार से प्राप्त करने की कामना करते हैं वह ब्रह्म है श्रेष्ठ है पवित्र है हृदय रूपी गुहा में स्थित है उस शब्द का अच्छी प्रकार से प्रयोग करने पर वह शब्द पुरुष को सांसारिक सुख और मुक्ति सुख सांसारिक सुख और मुक्ति सुख से युक्त कर देता है हृदय में स्थित रहता है तो कहा हृदय किस हृदय में स्थित रहता है वो स्वामी मस्तिष्क जी मस्तिष्क में जो हृदय होता है वहाँ पे स्थित है अच्छा क्या आप मस्तिष्क ये कहिए आप मन में स्थित रहता है क्योंकि सारे शब्द मन में तो रहते हैं जी जी तो यहाँ यहाँ से हम कहते हैं मन हाँ, गुहा से हम कहते हैं मन में स्थित होता है क्योंकि सब कुछ आपने योग में पढ़ा है ना सब कुछ मन में रहता है संस्कार मन में रहते हैं ज्ञान मन में रहता है हाँ? अविद्या मन में रहती है सब कुछ मन में रहता है तो यहाँ गुहाशय का मतलब मन में रहता है सब हाँ राजेश भगवान वदतु वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है उसका एक उत्तर उन्होंने पदमा जी ने दिया है दूसरा उत्तर आप दीजिए आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनो युक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी मारुतस्तूरसीचरन् मंदम जनयति स्वरम आत्मा बुद्धिया अर्थात विचारेण अर्थान समेत्य विवक्षया मन युंगते मन तत कायाग्नि आहंती पीड़यती वा सह कायाग्नि मारुतम प्रेरयति मारु मारुतः चरण मंदम स्वरम जनयति सम्यक् अस्ति प्रयासं भवान् सम्यक् कृतवान् परन्तु किञ्चित् भाषाम् अन्यत् परिमार्जयतु यथा अर्थान् समेत्य अर्थान् समीकृत्य किञ्चित् पर्यायवाची शब्दान् अपि प्रयोगं करिष्यति चेत् ये अवगन्तुं शक्नुवन्ति ते अवगमिष्यन्ति यत् भवान् सम्यक् जानाति इति भाषा विस्तारं स्यात् अस्मिन् पुनः एकवारं प्रयत्नं हा नै बाधा नास्ति भवान् सम्यक् उक्तवान् परन्तु केवलं भाषां किञ्चित् यथा जनयति तत्तु सम्यक् एव अस्ति जनयति तु पर्यायवाची शब्दमपि वक्ष्यति न जनयति उत्पादयति इति एवं मारुत इति मारुता किं मारुतः वायु कः वायुः उदानवायुः एवं किञ्चित् स्पष्टं करिष्यति चेत् ये शृण्वन्ति ते ज्ञानं करिष्यन्ति यद् भवान् सम्यक् अवबुद्ध्य सम्यक् ज्ञात्वा वदन् अस्ति अस्तु धन्यवादः अग्रे किसलिए इनका उपदेश किया जाता है वर्णों का उपदेश किस लिए किया जाता है आ, हाँ। प्रीति जी वर्ण वाग विषय हाँ बोलिए ओम स्वामी हाँ, हाँ। वर्णों का उपदेश जो भी हम इष्ट कहना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं उसके ज्ञान के लिए किया जाता है ठीक है ठीक है श्लोक याद नहीं आपको नहीं स्वामी मेरी सज्जता नहीं है अभी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आ, और कौन है आज वो नहीं है राममोहन जी नहीं है लगता है हाँ सीमा जी आप सुन रहे हैं उनका कनेक्ट हो गया क्या सीमा जी का अच्छा उनका कनेक्ट नहीं हो रहा सीमा जी का क्या कारण है राजेश जी उनको कनेक्ट करा दो कैसे हो सकता है शायद आ, हाँ। उनका ब्रॉडबैंड अच्छा नहीं होगा स्पीड वाला आ, हाँ, वो हो सकता है वो मोबाइल से करते होंगे इसलिए समस्या आ रही होगी उनको कहना पड़ेगा वो लैपटॉप से या कोई बहुत अच्छा आ, किनसे कर रहे होंगे पता नहीं हो सकता मोबाइल से कर रहे हैं या टैबलेट से कर रहे होंगे टैबलेट से ठीक हो सकता है क्या दिल्ली में हाँ। है तो 4G वगैरह यूज कर सकती हो हाँ नहीं ठीक बात है 4G का यूज कर सकती हूँ पर वो कनेक्ट कनेक्ट क्या है ऐसा दिखा रहे हैं अपने में जी स्पीड स्पीड हाँ। कर स्पीड नहीं होगा अच्छा कम होगा उनका हाँ, तो ठीक है स्वर किन स्वर किनको कहते हैं स्वरों का लक्षण कौन बताएंगे आप में से पद्मा जी स्वयं राजंता इति स्वराहा स्वर्यते शब्द्यते उच्चार्यते व्यंजनम एभिः ते स्वराः अन्यच्च स्वराणां विषये अन्यच्च किमपि अन्यत् किमपि अवशिष्टमस्ति ओम स्वामी तदेव आत्मा बुद्ध्या तदपि अस्ति सम्यक् अस्ति किं धातुः अस्ति स्वरमध्ये सृज् धातु स्वी स्व्री धातु स्वी स्व्री अस्तु व्यञ्जनम् इति किं रुचि व्यञ्जनम् इति किम् भवति व्यञ्जनम् इति हम्म, अग्रे अन्य च अन्य च व्यज्यन्ति प्रकटान् कुर्वन्ति अर्थन् अर्थान् इति व्यञ्जनानि व्यञ्जन्ति नास्ति व्यञ्जयन्ति ओम स्वामी व्यञ्जयन्ति ओम स्वामी व्यञ्जयन्ति प्रकटान् कुर्वन्ति इति अन्य च अन्य च व्यज्यते आदाय उच्चार्यते इति व्यंजनम् सम्यक् अस्ति राजेश जी बताएंगे व्यंजन किनके समान होते हैं व्यंजन किनके समान होते हैं कोई उदाहरण राजेश श्रीनोती व्यंजन किनके समान होते हैं विस्मरण हाँ रेणु जी हिंदी मैं बोलूं क्या हाँ भवती है वदतु हम्म। पुनर्नट भार्यावत हम्म। व्यञ्जनानि हाँ, नटभार्यवत् भवन्ति पुनः शब्दस्य प्रयोगं न कुर्यात् तत्र तु प्रमाणे अस्ति पुनः यदि भवती स्व स्वपक्षात् वदि वदिष्यति चेत् अलम् वदतु व्यञ्जनानि नटभार्यावत् भवन्ति एतावदेव अस्ति उदाहरणं तु एतावदेव अस्ति तत्तु व्याख्या अस्ति अत्र अत्र यद् लिखितम् अस्ति तत्तु व्याख्या अस्ति उदाहरणं तु तो एतावदेव अस्ति व्यञ्जनानि नटभार्यावत् भवन्ति अथवा भवती वाक्य को सुंदर बनाने के लिए आ, कोई शब्द को प्रयोग करना है तो आप ये भी कह सकते व्यंजना खलु न त भार्यावत् मतलब निश्चित रूप से व्यंजन नट भारिया के समान होते हैं ऐसा कहते हाँ जी सम्यक अस्ति स्वरों की संज्ञा स्वरों की संज्ञा स्वराणाम का संज्ञा वर्तते पद्मा ह्रस्वदीर्घलुतः स्वराणां संज्ञा भवन्ति सूत्ररूपेण किं भविष्यति उ उ उ इत्ये इत्येवम् इत्येवं कालो यो अच् स यथा ह्रस्वदीर्घप्लुतः भवति सङ्नको भवति सम्यक् अस्ति भवती अर्थं वदति सूत्ररूपेण तु ह्रस्वदीर्घप्लुतः सूत्ररूपेण तु एवम् अस्ति न सूत्रं सूत्रं खलु वदे ऊकालो ध्रस्वदीर्घप्लुतः ऊकालो ध्रस्वदीर्घप्लुतः सम्यक् अस्ति गुरु इत्यस्य व्याख्यां कुर्यात् राजेश गुरु इत्यस्य व्याख्यां कुर्यात् गुरुवर्णस्य व्याख्यां कुर्यात् गुरु इति किम् प्रश्न अवगछति व्याख्या कथम गुरु वर्ण किसे कहते हैं ओम हाँ। सूत्रमस्ति संयोग संयोगे गुरु अर्थात संयोगस्य पूर्वे यदि ह्रस्ववर्ण अस्ति तत् गुरु संजकम भवति अथवा दीर्घाः स्वराः गुरु गुरु गुरुसंज्ञकाः सन्ति दीर्घस्वराः तु गुरुसंज्ञकाः भवन्ति एव संयोगे पूर्वम् अस्ति अथवा पश्चात् भवेत् संयोगः संयोग तु पश्चात् अस्ति परन्तु संयोगस्य पूर्वे यः ह्रस्ववर्णः अस्ति तत् हाँ। गुरुसंज्ञकः हाँ, तो एवं वक्तव्यं संयोगे परतः संयोगे परतः अचः गुरुसंज्ञा भविष्यति या अचः गुरुसंज्ञा भवति संयोगे परतः अचः गुरुसंज्ञा भवति संयोग परे रहते अच की गुरुसंज्ञा होती यानी स्वर की गुरुसंज्ञा होती अन्यच्च यथा दीर्घ दीर्घा भवन्ति चेदपि भविष्यति यदि दीर्घं दीर्घं च तु सम्यक् उक्तवान् परन्तु संयोगगुर् इत्यस्य अर्थः एवं वदेत् संयोगे परतः अचः गुरुसंज्ञा भवति अस्तु संयोग इति किं रेणु अर्थात् व्यवधानरहिता व्यञ्जनानि संयु व्यवधानरहिता संजनानि हल संयोगसंज्ञक भवति व्यञ्जनानि यदि व्यञ्जनानि भवति चेत् भवन्ति व्यवधानरहिता व्यञ्जनानि भवन्ति यथा इन्द्रः अग्निः अस्मिन् मध्ये इन्द्र न न द इति संयोगसञ्ज्ञकः भवति अन्नश्च अग्निमध्ये ग अलम् अलं भवती जानाति अस्तु अनन्तर इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः पद्मा अनन्तर इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः वर्तते बहुव्रीहि समासः बहुव्रीहि समासः कथं का विग्रहं किं भविष्यति विग्रहवाक्यम् अनन्तर इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भविष्यति बहुव्रीहि समासस्य अन अन्तरा अनान्तर अनन्तर यस्य यस्य अन्तरा न भवति तत् अनन्तर एवम् एवं न विग्रहवाक्यं भवति बहुव्रीहिसमासस्य विग्रहवाक्यं भिन्नरूपेण भवति यथा राजेश वक्तुं शक्नुयात् वदतु अनन्तरा राजेश यीशु अंतरम न भवति ते अनन्तराः विग्रहवाक्यम् एवं भवति अस्तु रुचि भवती वक्तुं शक्नोति ओम स्वामी अनन्तरशब्दस्य ओम स्वामी अनन्तरः न अन्तरः अनन्तरः नै तत्पुरुषसमासः नास्ति किं किं किं वदति नै अस्ति स्वामी न अन्तरः अनन्तरः किं समासः अस्ति नैव नैव एवमस्ति बहुव्रीसमासः अस्ति अस्मिन् तो अस्य विग्रहवाक्यं भविष्यति राममोहन भवान् म्यूट् कृत्वा रक्षतु न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः न विद्यते अंतरम अंतर नहीं है दिन में या जिनका न विद्यते अंतरम ये शाम जिनका या जिन वर्णों के मध्य में कोई अंतर नहीं है ऐसे वर्णों को अनंतरा वर्ण कहते हैं क्योंकि यहां हला है ना हला बहुवचन में है हलह व्यंजन हलह पुल्लिंग में है अलह न अंतर न अंतरम न विद्यते अंतरम न विद्यते अंतरम येषां ते स्फलः इति उच्चन्ते जिनके बीच में कोई अंतर नहीं है कोई अंतर का मतलब व्यवधान न विद्यते अंतरम अर्थात व्यवधानम अस्तु राजेश सम्यक अभूत ओम भगवान् सम्यक् अस्ति अग्रे चलामः पण तिकडून सगळं रात्रीच अस्य सूत्रस्य को अर्थ पद्मा आयो आयामो दारुण्यमणुता खस्येति आयामो दारुण्यमणुता खस्येति उच्चैः कराणि शब्दस्य चूर्णम् अस्य अर्थः प्रयत्नः शरीरे यत्र यदा ऊर्ध्वमुखे भवति कण्ठस्य सङ्कुचितं भवति तदा ध्वनिः क्षीणः इति श्रूयते hmm. तु क्षीण इत्यस्य अभिप्रायः किञ्चित् भिन्नः भविष्यति रुक्षता वदेत् रुक्षत आर्यभाषां वदन्तु रूखापन् रूखापन् रुक्षत ओम स्वामी अस्तु सम्यक् उक्तवती आयामो दारुण्यम् अणुता खस्य इति उच्चैकराणि शब्दस्य अनुदात्तस्य परिभाषा नीचे अनुदात्त रेणु ओम स्वामी थोड़ा हाँ। थोड़ा साथ में हिंदी भी बता दीजिए इसका अर्थ है जब उदात्त का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के सब अवयव जो है वो सख्त हो जाती है सुकड़ती हैं अवयव जैसे किसी कपड़े को हम सुकाड़ सुक, आ, आ, क्या कहते हैं सुकड़ते हैं ना निचोड़ते नि, निचोड़ते समय कैसे इकट्ठे होते हैं हाँ जी वस्त्र के अवयव तो उदात्त को जब बोलते हैं तो थोड़ा सा हमारा शरीर जो है ना सख्त हो जाता है शरीर के अवयव जो है वो सख्त हो जाते हैं थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं तब उदात्त जो है वो रूखापन को लेकर के आता है तीक्षणपन को लेकर के आता है केस का अभिप्राय अनुदात्तः इति किं नीचेर् अनुदात्तः रेणु उच्चारण के समय के अवय ढीले पड़ जाते हैं हम्म। और कुछ मृदुता शब्द में मृदुता और कंठ थोड़ा सा फैलता है हाँ इसको ऐसा कहेंगे अनुभव सर्ग अनुभव अनुभव सर्गो मार्दवम उरुता खस्य इति नीचैकराणि शब्दस्य अन्वसर्गः मार्दवम् उरता खस्य इति नीचैकराणि शब्दस्य इसका अर्थ है सर्ग का मतलब शरीर के अवयव जो है अनुभव अनुभव का मतलब होता है मतलब खुलना जिसको कहते हैं शिथिल होना अवयव जो है ढीले हो जाते हैं शिथिल हो जाते हैं शरीर के अवयव ढीले ढीले हो जाते हैं और स्वर में जो है मृदुता आती है स्निग्धता आती है कोमलता आती है और कंठ को थोड़ा विस्तार करते हैं कंठ को खोलते हैं कंठ इसमें खुलता है और उदात में जो है कंठ जो है निकट आता है यानी एक प्रकार से बंद सा होता है कंठ यानी पूरा बंद नहीं होगा पूरा बंद होगा तो आप स्वर नहीं निकलेगा यानी बंद की ओर जाता है बंद हो रहा हो और कोई वस्तु निकले बंद होने की स्थिति में मतलब कुछ आधा बंद हो गया और फिर कुछ निकल रहा हो तो थोड़ा वेग से निकलेगा और खुले में जो है ना उतना वेग नहीं होता है मुख जब खुल जाता है तो उतना वेग नहीं होता है इसको कहते हैं मार्दवम खस्य उरुता कंठ की जो है विस्तीर्णता होती है और वाणी में स्निग्धता आ जाती है मृदुता आती है तब अनुदात का उच्चारण होता है अगला सूत्र है समाहार स्वरित रुचि भवती ओम स्वामी जब स्वर जब उदात और अनुदात स्वरों को मिलाकर बोलते हैं तो स्वरित होता है ठीक है समारह सम्मेलन उदात अनुदात से सम्मेलन में समहार का मतलब मिलाना जब दोनों उदात्त और स्वरित उदात्त और अनुदात दोनों मिल जाते हैं समाहार का मतलब दोनों का मिलना ही स्वरित है यानी आधा भाग उदात्त का रहता है और आधा भाग अनुदात्त का रहता है तब स्वरित निकलता है ओम स्वामी हाँ ये ये गायन विद्या के लिए या वैसे ही बोलने के लिए ये बताए गए हैं नहीं बोलने में भी ऐसा ही होता है और गायन में भी ऐसा होता है जब हम जब आप अपनी पोती को बोल दिए एक बार आप जाओ तो जा नहीं रही है तो जाओ <laughs> तो कोई वर्ण तो बहुत तीक्षण तीखा होता है जिसमें कंठ जो है सुकुड़ रहा होता है कोई वस्तु जब किसी अक्षर को आप बोलते हैं तो कंठ खुल रहा होता है तो और सामान्य भाषा में भी उदात अनुदात का प्रयोग होता है हम नहीं जान रहे लेकिन बोलते ऐसे ही हम लोग और जब वेद मंत्रों को सस्वर बोलते तब तो स्पष्ट पता लगता है ये राम मोहन जी जब बोलेंगे ना कोई मंत्र तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ ये देखो यहाँ उदात्त बोल रहे हैं यहाँ अनुदात्त बोल रहे हैं यहाँ स्वरित बोल रहे हैं वो पकड़ पकड़ना होगा मंत्र आपके सामने हो और चिन्ह लगे हुए हो अनुदात्त का स्वरित का फिर वो बोले फिर आप देखें तो आपको तब ज्यादा स्पष्ट पकड़ में आएगा वैसे भी आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा अगर पुस्तक सामने हो स्वर चिन्ह तो तब आपको और अच्छा पकड़ में आएगा हाँ जी धन्यवाद लघु इति किम लघु इति किम पद्मा रस्वम लघु स्वामी लघु यथा रस्वम लघु इति यथा यथा भेत्ता ह्रस्वम् अक्षरं लघु सन्नको सन्नकं भवति यथा वेत्था छेत्ता इति माने भेत्ता चेत्ता तो भवति तत् तु सूत्रस्य उदाहरणं जातेति लघु अक्षरस्य उदाहरणं न ददाति अवगच्छति मम भेत्ता चेत्ता इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति तस्मिन् उदाहरणे भेत्ता उदाहरणे चेत् चेता चेत्ता उदाहरणे लघु अक्षरं किम् तद न जापेति भवति तत्तु सम्पूर्णसिद्धिं जापयति अवगच्छति भी, भित् अस्माकं विषये गुणादिकं नास्ति अस्माकं विषये तु अस्ति बिद् बिद् मध्ये यः इकारः अस्ति सः लघुसञ्ज्ञकः अस्ति बिद् मध्ये इकारः भीत चेत् भीता चेत् एवम् अस्तु उकार अस्ति रुमध्येपि उकार अस्ति कुत्रापि यदि अस्ति इकार उकार ऋकार अरस्व अरस्वस्य तद् लघु भवति अस्तु अयोगवाः के सन्ति अयोगवाः के सन्ति रेणु अयोगः अष्टः सन्ति के चत्वारः हम्म। यम अस्ति हम्म। चत्वारः सन्ति अनुस्वारः उपधमानीय दिवामूलीय विसर्गः हम्म। अन्तस्था के सन्ति माता सुदेश जी बताएंगे अंतस्थ वर्ण किन को कहते हैं नहीं नहीं अंतस्थ वर्ण किन को कहते हैं अंतस्थ वर्ण ठीक है आपको बात करनी है प्रीति वदिष्यति ऊष्मा के सन्ति नहीं नहीं रॉन्ग नंबर है अस्ति न वा अस्तु अस्मि हा वदतु ऊष्मा के सन्ति ऊष्माः सन्ति श श स ह सम्यक् अस्ति अर्थात् शकार सकार हकार हम्म। अस्तु वक्तुं शक्नुवन्ति राजेशः कति हरस्वा सन्ति पञ्चहरस्वस्वराः सन्ति सम्यक् अस्ति पद्मा वदिष्यति प्लुता प्लुताः कियत् सन्ति स्वामीजी नव सन्ति सम्यक् अस्ति वदिष्यति दीर्घा कति सन्ति दीर्घ अष्टाः सन्ति अष्टदीर्घाः सन्ति नवप्लुताः सन्ति पञ्च ह्रस्वाः सन्ति कस्य दीर्घ दीर्घाक्षरः कस्य न भवति लृकारस्य लृकारस्य दीर्घ न भवति अस्तु रुचि वदिष्यति केषां वर्णानां केषां अरस्व न भवन्ति ओम स्वामी ए ऐ ओ औ इति एतेषां वर्णानां दीर्घाः न सन्ति न सन्ति न सन्ति तु भवन्ति सम्यक् अस्तु पञ्चानां वर्गाणां प्रथमाक्षरान् वदतु क च ट त प सम्यक् अस्ति रेणु भवती वदतु पञ्चानां वर्गाणां द्वितीयाक्षरान् पद्मा भवती तृतीयाक्षरान् गजडद गजडद रुचि भवती चतुर्णाम् पञ्चमान् अक्षरान् राजेश इसी तो तरह याद करिएगा क्योंकि बहुत काम आएंगे प्रथम अक्षर द्वितीय अक्षर तृतीय अक्षर वर्ग के प्रथम अक्षर तो एकदम हमारे मस्तिष्क में होने चाहिए प्रथम अक्षर कौन से होते हैं द्वितीय अक्षर कौन से होते हैं वर्गों के दूसरे अक्षर वर्गों के तीसरे वर्गों के चौथे वर्गों के पांचवें तो बहुत काम आएंगे इस तरह का याद करके रखने पर आ, स्वामी जी हाँ जी ऐसे रटने से यमांगणानम वो ठीक है ना तो जो प्रत्यार सूत्र में जो पढ़ा है जी जी वो प्रत्यार में पढ़ा है वहां पर तो है ही है लेकिन एकदम बुद्धि में नहीं बैठ जाता है वो हम्म, हम्म। मैं मैं कहूँ आपको आ, आ, जैसे प्रत्यार में से यहाँ पर अल अकार और लकार अकार और लकार अकार से लेके लकार तक कितने अक्षर होते हैं अकार से लकार हाँ पता नहीं हाँ नहीं पता होता है ना तो ऐसे हाँ। वहां पर भी आ, हम्म। वहां पर भी एकदम पकड़ में नहीं आता है अगर प्रत्यारों को अच्छी तरह पढ़ेंगे आप तब हो जाएगा अभी हम्म। अच्छी तरह हमने नहीं पढ़ा है ना अभी आगे हम्म। पढ़ेंगे जै, जैसे ही ये शिक्षा समाप्त होती है होती है तो हम प्रत्यार से प्रारंभ करेंगे ना वहां अच्छी तरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने अच्छा। के बाद भी पढ़ने के बाद भी आगे चल करके जब आगे बढ़ता रहता है ना व्यक्ति तो वो एकदम मस्तिष्क में नहीं आता है और जब हम्म। संधियां करेंगे और भी बहुत सारा यहाँ इसके आगे जय है इसके आगे खय है इसके इसके आगे शर है इसके आगे यही है इसके आगे ये है जब ऐसा बोलते हैं ना तो तुरंत वो सामने चित्र नहीं आ पाता व्यक्ति के और जब तक वर्ण सामने नहीं आएंगे तो कार्य प्रक्रिया में वो थोड़ा कमी रह जाती है उसके लिए अभी से हमको आगे बढ़ना है इसलिए मैंने ये पूछ लिया प्रथम द्वितीय तृतीय अक्षर हाँ तो आपके स्वर हो गए हैं व्यंजन हो गए हैं अंतस्थ ऊष्म हो गए अयोगवाह हो गए तिरसठ अक्षर आपके सामने आ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं ओम स्वामी हाँ जी हरस्व और दीर्घ तो समय आ, आ, और प्लुत के लिए फिर कितना कैसे समय का वो भी उससे दुगना तीन गुना समय हरस्व लगाने के लिए कैसे भी आ, बोलने का जैसे आपकी नाड़ी जो चलती है एक बार नाड़ी चली तो उसको एक मात्रा कहते हैं उसको अरस्व कह लीजिएगा उदाहरण बता रहा हूं मैं हाँ समझने के लिए नाड़ी जब एक बार चलती है उतना समय जितना काल उसको लगता उतने के लिए अरस्व उससे दुगुना काल जब लगता है तो दीर्घ उससे तिगुना काल लगता है तो क्लुप्त तो ये कैसे तिगुना काल कैसे लगाना होता है मतलब मात्रा तो, अंदाजा अंदाजा के जैसे मैं बोलू अ जी आ आ हाँ जी आ रहा है हाँ जी आ रहा है जरूरी नहीं है कि उतना ही काल हमको लगाना है कोई हम पैरामीटर लगा करके देख रहे हैं भाई इतने काल में आपको अ बोलना है और इतना इसके दुगुने इतने काल में आपको दीर्घ बोलना इतने काल में आपको प्लुत बोलना ऐसा कोई पैरामीटर लगा के हमको नहीं बोलना है पता लगेगा कि यह रसु बोला जा रहा है ये दीर्घ बोला जा रहा है ये प्लुत बोला जा रहा है मैं मैं अगर ओम तो आपको पता लग रहा है ये प्लुत बोल रहे हैं प्लुत बोल रहे हैं अच्छा ठीक पता लग जाएगा मैं कहूंगा हाँ हाँ, अद्य पता लग रहा है हाँ, हरस्व है हाँ जी मैं ये बोलूं आद्य तो पता लगता है तो दीर्घ बोल रहे हैं सब समझेंगे ना हाँ जी मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा जलंधर तो आप समझेंगे अरसु भी बोला गया सब अरसु बोला अगर मैं बोलू जालंधर चाहिए कोई ऐसा पैरामीटर लगा के हमको नहीं देखना है कि इन्होंने अधिक काल लगा दिया इन्होंने क्योंकि जैसे गाते हैं तो हम बहुत लंबा करते हैं ना हाँ, तो प्लुत में हो जाता है कर देते हैं को तो और ज्यादा प्लुत करते जैसे ओम को लंबे स्वर से बोलते ओम इसको कितना ही लंबा करो तो भी उसको प्लुति कहेंगे प्लुति कहेंगे ठीक है ऐसा धन्यवाद जी आ, हाँ, मैं कह रहा था अब हम मुख्य विषय पर आते हैं बोलने वालों के गुण रागेश एकम गुणम वदे माधुर्यम माधुर्यम हाँ, हाँ। रेणु जी द्वितीय गुणम रेणु जी गुणम हाँ, अक्षर व्यक्ति पद्मा पदच्छेदः पदच्छेदः रुचि सुस्वरः हाँ, सुस्वरः राममोहन धैर्य धैर्यं हाँ, धैर्यं हाँ। प्रीति भवती न जायते जापितुं शक्नोति लय समर्थं कति अभूवन् कति गुणाः अभूवन् राजेश षडयते पाठकः गुणः षडयते पाठकगुणा षड्गुणा अभवन् तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थम च षडेते पाठका गुण तो माधुर्यम इत्यस्य को अर्थ प्रादेश ध्वन्यां माधुर्यम् अस्ति अर्थात कोमलता अस्ति मार्दवता अस्ति स्निग्धता अस्ति मधुरता वक्तुं शक्नोति स्निग्धता मधुरता कोमलं लावण्यम् अस्तु अक्षरव्यक्तिः रेणु स्वामी एक एक अक्षर को पृथक करके स्पष्ट रूप से बोलना अक्षर व्यक्ति केवल इतना बोला अक्षर व्यक्ति भिन्न भिन्न अक्षर सुनाई देना चाहिए भिन्न भिन्न अक्षरों को स्पष्ट करके बोलना हाँ भिन्न भिन्न अक्षर सुनाई देना चाहिए यानी अक्षर अक्षरों की भिन्नता स्पष्ट होनी चाहिए कि आप सकार को अलग बोल आ, सकार भी अलग है सकार अलग बोल रहे हैं शकार अलग बोल रहे हैं शकार अलग बोल रहे हैं भिन्न भिन्न भिन्नता दिखाई देनी चाहिए अक्षरों में घालमेल ना हो हाँ, पदच्छेद इति पद्मा ओम स्वामी भिन्नता बोलने में अक्षर की भिन्नता या भाई ये स बोल रहे हैं या श बोल रहे हैं तो ऐसे हम्म। भिन्नता जो, जो वाक्य आप बोल रहे हैं उस वाक्य में जो अक्षर होंगे ना मान ली चार अक्षर है उस वाक्य में हाँ तो चारों अक्षर आपको स्पष्ट सुनाई देना चाहिए अक्षर खाना नहीं है कई बार खा जाता है ना व्यक्ति बोलते समय हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत सारे अक्षरों का अंतिम अक्षरों को तो अक्सर खा ही जाता है और हाँ पदों के बीच में भी किसी किसी अक्षर को खा जाता है व्यक्ति खा जाता है का मतलब बोलता नहीं इसका ही अभिप्राय हाँ जी हाँ जी तो वो वो नहीं होना चाहिए एक एक अक्षर सुनाई देना चाहिए हाँ, ये सभी अक्षरों को बोल रहा है हाँ पदच्छेद पद्मा पदच्छेदः पदा पृथक्करणम् हाँ, पदाः पृथक् पृथक् भवेयुः सम्यक् अस्ति सुस्वरः इति रुचि सुंदर ध्वनि हाँ, राममोहन धैर्य विश्वास पूर्वक हाँ उसका उच्चारण करना कॉन्फिडेंस हाँ, होना चाहिए मतलब विश्वास होना चाहिए आत्मविश्वास होना चाहिए स्थिरता होनी चाहिए एकाग्रता होनी चाहिए सब धैर्य में आता है आत्मविश्वास कहो एकाग्रता कहो स्थिरता कहो जम करके व्यक्ति बोल रहा है ऐसा लय समर्थम लय समर्थम राजेश लय समर्थम इत्यर्थः उदात्त अनुदात्त दीर्घ हम्म। विवृत संवृत और अलम एतावत् अस्ति एवं तु बहवः सन्ति स्पर्श अस्ति आभ्यन्तर अस्ति बाह्य अस्ति हाँ, ये सर्वम् अस्ति घोष अस्ति अघोष अस्ति नाद अस्ति नादानुस्वर अस्ति बहु बहूनि सन्ति अग्रे जातिष्यामि प्रकरणेषु आगमिष्यन्ति अलमे तावत् स्वरों के उच्चारण में दोष पद्मा भवती वदतु प्रथमं प्रथमदोषः ग्रस्थं स्वामीजी हाँ। ग्रस्तम् इत्यस्य अभिप्रायः मुखे किमपि वस्तुं संस्थाय हम्म। उच्चारणं मुखे सङ्गृह्य वदेत् किमपि मुखे रक्षित्वा यथा बालकः किमपि मुखे रक्षित्वा खादनपि वदन्ति अथवा रक्षित्वा इति चाक्लेट् इति मुखे रक्षति पुनः वदति तु कथम् आगच्छति वर्णः तदस्ति ग्रस्तम् अस्तु निरस्तम् रुचि ओम स्वामी निरस्तम किसी वस्तु को मुख से ग्रहण करके फेंक देना हाँ अच्छा आप इसे कोई देख करके तो नहीं बता रहे ना क्योंकि अब ईश्वर हाँ, सम्यक हाँ सम्यक् अस्ति अहम् एवमेव वदामि मम वदनस्य किमस्ति कर्तव्यमस्ति राइट है मेरे को बोलने का बाकी ईश्वर साक्षी वर्तते अस्तु ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम अविलंबितम इति रेणु ओम स्वामी निरस्तम फेंक देना तो बोलना तो मतलब फेंक के बाद बोला तो तो क्या दोष कैसे मुझे ये समझ नहीं आया आप ये ये सब पाठ में नहीं थे क्या आप मैं नहीं थी स्वामी जी मैंने छब्बीस पार्ट से शुरू किया है अभी मैं ये साथ साथ लिख रही हूँ मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ आप एक काम करिएगा राजेश जी ने सब अपलोड किया है उन सबको डाउनलोड करवाइएगा राजेश जी को बता करके राजेश जी को बता करके मतलब अपने बेटे राजेश जी यहाँ दो राजेश हो गए <laughs> जी हाँ जी हाँ जी अपने बेटे राजेश जी को बोल करके उनको डाउनलोड करवा दीजिएगा तो उनका तो सारा संस्कृत में ही होगा वो तो लिखते हैं सारा नहीं नहीं वो संस्कृत की तो पुस्तक में उसका अर्थ बताया था ना मैं पाठ में राजेश जी जो लिखते हैं ना राजेश मूर्ति भागवत जी हाँ, वो, तो वो सारा संस्कृत, में ही लिखते हैं वो संस्कृत में लिखते पर मैंने हिंदी में बोला है ना अच्छा हाँ, मैंने हिंदी में बोला है आप उनको डाउनलोड जिन कक्षाओं को आपने नहीं सुना उन कक्षाओं को डाउनलोड कर लीजिएगा हम रिचा जी बोलिए क्या कह अच्छा। रहे हैं जी आपसे भी पूछा हाँ जी मेरे में भी डाउनलोड करा देना मैंने भी नहीं पढ़ा शुरू से हाँ तो आप वो सब डाउनलोड कर लीजिएगा हाँ, बता देंगे आपको रुचि जी हाँ जी हम चल रहे थे ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम रेणु जी जल्दी जल्दी बोलना जरा गति से बोलना गति अविलंबितम का अर्थ होता है कि अविलंबितम राजेश विस्मरामि भगवान् हाँ, हाँ, अविलंबितम का अर्थ है एक पद के किसी अक्षर को दूसरे पद के साथ जोड़ के बोलना किसी दूसरे पद एक पद के अक्षर को दूसरे पद के साथ में मिला करके बोलना यानी उच्चारण पृथक पृथक करना है एक पद का अक्षर अलग है दूसरे पद का अक्षर अलग है लेकिन पहले वाले पद के किसी अक्षर को दूसरे वाले पद के साथ मिला करके बोलना यह है अविलंबितम अस्तु निरहतम निरहतम राम मोहन जी निरहतम हम्म, ठीक से नहीं ठीक से नहीं जानता हूँ हाँ, अबू कृतम जानता हूँ जैसे किसी को धक्का दे करके बोल रहे हो ऐसा होना नहीं अच्छा, अच्छा। धक्का देने को निरहतम कहते हैं अम्बू कृतम ये तो जानते हैं अम्बू कृतम मुंह में हाँ पाची भर करके जब बोलता है तो अम्बू कृतम कहेंगे अम्बू कृतम धमातम का मतलब होता है जैसे रूई को धुनते हैं ना जैसे रजाई बनाने के लिए रूई को पहले पतला करते उसको बहुत सूक्ष्म पतला एक एक रेशे को अलग करने का होता है उसको ताकि वो भर जाएगा अच्छी तरह सब जगह प्रवेश हो जाएगा कहीं इकट्ठा एक जगह ज्यादा ना है उसके लिए रूई को इतना सॉफ्ट करके इतना उसको पृथकीकरण करते हैं अलग अलग करते हैं उसका अलग यंत्र होता है उससे धुन करके उसको अलग करते जैसे रुई को धुनना होता है या लोहार जैसे भाटी के अंदर फूंकता है जिस तरह का उसमें आवाज होता है घुर घुर ऐसा इस तरह का नहीं होना चाहिए धुनते समय वो जो यंत्र से जब धुनता है तो उसका उसकी जो आवाज है वो एक अलग ढंग की आती है आती है उस तरह का व्यक्ति आवाज करता हुआ बोलता है जैसे आ, सांस का रोगी होता है ना सांस का अस्थमा जिसको होता है जब अस्थमा बढ़ जाता है और लंग्स जो है वो उसका जो लंग्स के जो द्वार है वो सुकड़ने लगते हैं तो उसकी जो श्वास निकलती ना और फिर वो जब बोलता है इस तरह का बोलता है व्यक्ति हाँ जी दमातम हो गया ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम निर्हतम अम्बुकृतम दमातम अतो विकंपितम हाँ विकम्पितम को भी समझते हैं रुचि जी विकम्पितम विकम्पितम का अर्थ होता है जैसे शरीर में कंपन हो रहा हो ना कंप कंपा हो रही है फिर व्यक्ति बोल रहा हो तो वो अलग आता है उसकी वाणी अलग होती है कंपन पैदा होती है उस वर्णों में वर्णों में भी कंपन पैदा हो जाता है जैसे व्यक्ति सर्दी से टुट रहा हो बिल्कुल फुटता रहता है और फिर वो बोलता है तो उसकी वाणी में अंतर आ जाता है यह है विकम्पितम संदष्टम हाँ, स्वामी जी हाँ जी कंपनम तो ठीक है विकम्पनम मतलब विशेष कंपन हाँ विशेष कंपन है जैसे विकम्पन कंपन तो है लेकिन यहाँ विशेष कंपन है सामान्य कंपन नहीं है ना वो प्रयत्न पूर्वक कंप, कंपित हो रहा है ना एक तो सामान्य रूप से अपने आप कंपन पैदा हो गए शरीर में ठंड के कारण से लेकिन आ, उसको कोई ऐसा किसी रोग के कारण से या किसी आ, किसी वजह से कंपन नहीं हो रहा है लेकिन स्वयं आर्टिफिशियल कंपन कर रहा है ना जानबूझ करके हाँ, हाँ जानबूझ करके हाँ, कहिए ये आर्टिफिशियल वो पैदा कर रहा है जैसे नाटक वाले करते हैं ना हाँ, मतलब जो सिनी फील्ड में जो नाटक करने वाले होते हैं ना वो हम्म। जब हम्म। बोलते हैं तो वो विशेष प्रयास पूर्वक कंपित होकर के फिर बोलते वाणी को पृथक करने के लिए हाँ जी हाँ जी, जी। संदर्शम का अर्थ होता है जैसे दांतों से काटता हुआ जब व्यक्ति बोल रहा हो दांतों को काट करके बोल रहा हो तो ये संदष्टम संदष्टम बोला काटना जैसे सांप काटता है ना संदष्टम सांप ने काटा है संदष्ट तो ऐसे संदष्टम बोला काट के भी बोलना अगला है संदष्टम एनी कृतम जैसे हिरण कूद कूद करके चलती है ना यहाँ से वहां वहां से वहां दूर दूर कूदती है ऐसे कूदता हुआ बोल रहा हो जैसा ऐसा लगता है व्यक्ति कूद कूद करके बोल रहा हो अर्धकम अर्धकम का अर्थ होता है जितने समय में उच्चारण करना चाहिए उतना समय ना देना उसको अर्धकम कहते हैं यानी कम आधे समय में ही पूरा कर दिया और द्रुतम का मतलब त्वरा से बोलना शीघ्रता से बोलना और अंत में है विकीर्णम विकीर्णम का अर्थ होता है किसी वस्तु को बिखेर दे बिखरा बिखरा जैसा बोल रहा है यानी अक्षरों को बिखार करके बोल रहा है अलग अलग जैसे एक किलो का चने चने के थैली में थैली में एक किलो चना है काबुली चना राजमा और वो प्लास्टिक थैली है यानी पोलिथीन है और नीचे से फट जाए तो जब नीचे गिर जाए तो कैसे बिखर जाते हैं वो सब इस तरह का वर्णों को बिखार करके बोल रहा व्यक्ति उसको कहते हैं विकीर्णम ये दोष हो गए और अंत में एक श्लोक आया श्लोक के माध्यम से बताया था महाभाष्य का श्लोक है अतो अन्य व्यंजन दोषा अतो अन्य व्यंजन दोषा के संति ते दोषा राजेश शशन शश हाँ। माभूत हाँ, इति माभूत इति माभूत शेष इति मा भूत् अग्रे मञ्चकः मञ्जकः मा शकल मञ्चको मञ्जक इति सकलं शकलं तत्तु भिन्नमध्ये अस्ति अत्र नास्ति तदपि अस्ति परम् अत्र नास्ति रेणु वदतु किम् अवशिष्टमस्ति पलाश पलाश पलाशः पलाश इति अस्तु पलाश इति किं पद्मा पलाश इति किम् प्रायः मांसः इति वा पलाश इति मांस न भवति पलाश इति भवति ढाक् और पत्राणि पत्राणि पलाशाः भवन्ति पत्राणि अन्यच्च ढाक् अपि भवति उक्तवान् आसम् अहम ढाक ढाक के तीन पाठ बहुत प्रसिद्ध है हिंदी में बोलते हैं ढाक के तीन पाठ क्या क्या समझी समझा नहीं आ, पला, पलाश को नहीं समझे या ढाक को नहीं समझे ढाक ढाक अच्छा आ, आपका कौन सा प्रांत है कर्नाटक समझे अच्छा आप भी कर्नाटक में हैं तो अच्छा। कर्नाटक में कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनको आ, भोजन के प्लेट बनाते हैं ಸ್ವಾಮೀಜಿ हाँ मुत्तुगा मुत्तुगा बिल्कुल ठीक है मुत्तुगा है उसको मुत्तुगा कन्नड़ में बोलते हैं मोतुगा हाँ। तेलुगु में बोलते हैं और हाँ। तमिल में भी इसी तरह लगभग मत्तुका ऐसा कुछ होता है हम्म, हम्म, वही पत्ता स्वामी जी हाँ, वही पत्ता बिल्कुल उसी को ढाक कहते हैं अच्छा उसको ढाक कहते पलाशा और सर्वानी पत्रानी वृक्ष से किमपि पत्रं भवेत् प्रत्येकं पत्रं कस्यापि भवेत् तदपि पलाश पत्र को भी पत्ते किसी भी वृक्ष के पत्तों को भी पलाश कह सकते हैं मंचक मञ्चकः इति किम् तो, तो प्रीति मंचक किसको कहते हैं अच्छा ऋचादी बताएंगे जी बताएंगी मंचका किसको कहते हैं अस्तु रेणु जी ओम स्वामी मंच को हाँ मंच को मंचका जो मंच पे बैठा हो हाँ जी मंच को भी कहते हैं और पलंग को भी कहते हैं मचान को भी कहते हैं कई अर्थ हैं मचान है मचान जो है खेत के ऊपर बनाया जाता है और मंच जो है जो स्टेज होता है और पलंग तो पलंग होता ही ये सब जानते हैं ठीक है इतना ही रखते हैं आपका आपकी परीक्षा हो गई है आप में से लगभग अच्छी तैयारी कर किया है आपने इसी तैयार इसी तरह तैयारी करिएगा आगे हम फिर कल देखते हैं नया प्रकरण इसको यहीं पर विराम देते हैं ओ शान्तिः शान्तिः नम